सगुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म उपासना करने के लिए आगे प्रकरण है उसमें सगुण ब्रह्म ईश्वर है सर्वज्ञ सर्वशक्ति और श्रुति स्मृति युक्ति से तो श्रुति स्मृति प्रमाण से सिद्ध है तो भी शास्त्रार्थ दृढ़ निश्चय करने के लिए अनुमान से ईश्वर सिद्धि करने के लिए वाक्य प्रयोग हुआ कहाँ से चलेगा उनासी में यथोत लक्षणत्वाद हेतु दिया है द्वितीय पंक्ति है ना हाँ ठीक है न कर्मणे वेति चे न परतंत्र से निमित्त मात्रत्वाद कर्म परतंत्र केवल निमित्त है ईश्वर के बिना केवल जड़ कर्म फल नहीं दे सकता है है मैं परिहरति न परतंत्र से निमित्त मात्रत्वात् कर्तृ परतंत्र से कर्मणो निमित्त मात्रत्वात् स्वातंत्र्य निमित्तत्व असंभवात कार्य वैचित्र से भंग प्रसंग बाधक कर्तार मंत्रेण टीका में कर्तृपरतंत्र है कर्म कर्ता के अधीन केवल निमित्त होता है स्वतंत्र फल नहीं दे सकता है जड़ है स्वातंत्र निमित्तत्व असंभव स्वतंत्र निमित्त नहीं होगा कर्ता के द्वारा प्रेरित होकर के कर्ता के अधीन है कोई जड़ का प्रेरक कोई हो तब तो फल देगा और कार्य वैचित्र से भंग प्रसंग बाधक कर्ता के बिना कर्ता मंत्र न फल देने वाले कार्य वैचित्र भंग कार्य विचित्र नहीं हो सकता है अलग-अलग कार्य विलक्षण कार्य के लिए कोई करता है जो कर्म फल देने वाला है और कर्म फल देने वाले अपने निमित्त कर्म देश काल को देख करके कर्म देता है तो कार्य वैचित्र होता है यहाँ तो हो गया संग्रह वाक्य न से निमित्त मात्रत्वात् ये संग्रह वाक्य से पूर्वपक्ष भागम विवृणति पूर्वपक्ष भाव है कर्मणे यहाँ से संग्रह वाक्य कर्मणे वैति परतंत्र परतंत्रस्य निमित्त मात्रत्वात् ये संग्रह वाक्य इसमें पूर्वपक्ष भाग कौन है कर्मणे वैति चेत यहां तक इसकी व्याख्या पहले यदिदम उपभोग वैचित्रम प्राणिनां तद साधन वैचित्रम च देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति कर्म क्रमं च तन्न नित्य सर्वज्ञ कर्तृकम पूरा कहता है उपभोग वैचित्रम उपभोग में वैचित्र है प्राणियों में सुख दुख भोग करते हैं प्राणिनां साधन वैचित्र्यम च उपभोग का साधन उपभोग सुख दुख साक्षात्कार होता है भोग होता है और साधन भी अलग-अलग सबके पास साधन अलग-अलग है पशु पक्षी मनुष्य मनुष्य भी सबके साथ साधन अलग है विलक्षण साधन विलक्षण भोग होता है देश काल निमित्त अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमंच और देश काल निमित्त के अनुसार नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम होता है कभी प्रवृत्ति कभी निवृत्ति किस देश काल को लेकर के सबकी प्रवृत्ति में सूर्य उदय अस्त में नियत प्रवृत्ति पशु पक्षी में जगना बच्चा पैदा करना पेड़ पौधे में फूल आना अंकुर होना ये सब नियत प्रवृत्ति निमित्त क्रम जो होता है अब सिद्धांत कहता है सर्वज्ञ कर्तृक पूर्व पीछे कहता तन्न नित्य सर्वज्ञ कर्तृकम नित्य सर्वज्ञ हाँ, कर्ता है सर्वज्ञ कर्तृक नहीं है तो फिर कैसे इससे विचित्र होता है किंतरी पूर्व पीछे उत्तर देता है कर्मणेव कर्म से हो जाएगा कर्म से सब विचित्र हो जाएगा कर्म से कैसे हो जाएगा तस्य अचिंत्य प्रभावत्वात् कर्म का प्रभाव अचिंत्य है ऐसा मन चिंतन करे विचार करे निश्चय नहीं कर सकते कैसे कर्म से स्वर्ग मिल जाता है कर्म में इसे प्रभाव शास्त्र प्रमाण है अचिंत्य प्रभावत्वात् सर्वेश्च फल हेतुत्व अभिभगमाद और कर्म फल का है तो समानते ही है आस्तिक जितने पुण्य पाप कर्म से फल मिलता है कर्म में फल हेतु तो समानते है तो फल हेतु तो सिद्ध है उसमें से स्वभाव से ऐसे शक्ति है प्रभाव है जिसके कारण फल दे सकता है सत्य न फल हेतु ते किम ईश्वराधिक कल्पना है न नित्य से ईश्वर से नित्य सर्वज्ञ सत्य हेतु तम चेति चेत यहाँ तो पूर्व पक्षी वाक्य हुई सत्य कर्म न फल हेतु ते कर्म फल हेतु ये सब हो गया ऐसे फल हो जाएगा वैचित्र हो जाएगा कि ईश्वर अधिक कल्पना है एक अधिक ईश्वर कल्पना से क्या प्रयोजन है कर्म फल हेतु समानते ही है फल हेतु तो कर्म हो जाएगा अधिक ईश्वर कल्पना करना ईश्वर फल देता है कल्पना करना कोई जरूरत नहीं इसे क्या सिद्ध हुआ न नित्यस्य ईश्वरस्य नित्य सर्वज्ञ शक्ते फल हेतुत्वं च नित्य को ईश्वर है नित्य सर्वज्ञ शक्ति वाला फल हेतु उसमें फल हेतुत्वं च एक ईश्वर भी मानना ईश्वर में फल हेतु तो ही मानना दो ये सिद्ध नहीं होगा टीका मैं यदि तम ईश्वरवादी फिर अपि वैषम निरीक्षण दोष परिहाराय कर्मणो जगत वैचित्र हेतुतम इष्टम तत्संप्रतिपन्नम विहाय अपूर्व ईश्वर कल्पते धर्मी तस फल हेतुत्वं च धर्मः कल्पनेति गौरवं स्यादित्यः पूर्व कहता है ईश्वरवादी भी ईश्वर कल्पना करते हैं किंतु ईश्वर कल्पना करने पर भी एक ही यदि ईश्वर सबको फल देता है किसको दुखी किसको सुखी क्यों करता है विषमता वैषम्य विषमा सृष्टि का कारण वो तो राग देश वाला हो जाएगी ईश्वर और निर्घुण निर्घुण निर्घृणता क्रूरता है घृणा नहीं इतने कष्ट देते कितने लोग मर जाते हैं कितने कष्ट देते हैं इतने उसमें थोड़े से थोड़े से भी घृणा ये नहीं है इतने उग्र कर्म करते हैं प्रलय काल सब को मार देंगे अभी कोई कहीं जाता है कैसे मर जाता है कैसे हाथ पर किसी का टूट जाता है तो ये वैषम्य निर्घृण दोष ईश्वर में आएगा विषमता सृष्टि और निर्गुणता घृणा रहित क्रूरता क्रूरता वैषम्य दोष परिहार करने के लिए ऐसे ईश्वरवादी भी कहते हैं अपने कर्म के अनुसार फल देता है ईश्वर ईश्वर में कोई राग द्वेष नहीं है विषमता और निर्गुणता दोष ईश्वर में आता है उसको परिहार करने के लिए ईश्वर को मानने वाले भी कहते हैं कर्म ही जगत वैचित्र हेतु है जगत में जो वैचित्र है किसको सुख किसको दुख कोई मर जाता है कोई रो रहा है कोई हंस रहा है कोई गरीब कोई धनी ये सब वैचित्र क्या है तो कर्म है ईश्वर भी ईश्वर को मानने वाले भी कर्म जगत वैचित्र हेतु तो मानते हैं तत्संप्रतिपन्न व्याय जो कर्म ही जगत है तो सबको मानना पड़ा ईश्वर नहीं वाले वाले हम तो मैं पूर्व मीमांसक कर्म को मानते हैं ईश्वर नहीं मानते पूर्व मीमांसक कर्म से फल मिल जाता है पुण्य पाप के अनुसार सुख दुख मिलता है और ईश्वर को मानने पर भी आपको कर्म को हेतु मानना पड़ेगा कर्म को अलग हेतु नहीं मानेंगे तो ईश्वर में दोष आएगा वैषम्य और नैर्घृण्य विषमता किसको सुख दुख देना और निर्गुणता क्रूरता ये दोष ईश्वर में आता है उसका परिहार करने के लिए ईश्वर को मानने वाले भी कर्म को मानना पड़ता है इष्टम जगत वैचित्र हेतुत्वम कर्म न इष्टम कर्म में जगत विचित्र हेतु तो इष्ट ईश्वरवादी के द्वारा यदि कर्म इष्ट हो गया संप्रतिपन्न हो गया उभयवादी सम्मत हो गया हम भी कर्म मानते हैं ईश्वरवादी भी कर्म मानते जो संप्रतिपन्न उभयवादी सम्मत कर्म हुआ उसको छोड़ करके एक अपूर्व ईश्वर कहीं पहले किसी ने नहीं कहा था ये तुम लोग को कहते हो हम लोग तो कर्म ईश्वर नहीं मानते एक अपूर्व अपूर्व मतलब पहले कभी प्रसिद्ध नहीं है अभी तो कल्पना करते हो अपूर्व ईश्वर कल्प्यते क्या जरूरत है वहाँ ईश्वर कल्पना करेंगे तो क्या क्या कल्पना करना पड़ता है एक धर्म ईश्वर कल्पना करो ईश्वर खाली कल्पना कर दिया इतने मात्र से नहीं होगा ईश्वर में एक धर्म भी कल्पना करो क्या फल हेतु तो ईश्वर का भी कोई कल्पना कर दिया ईश्वर कोई खाली बैठ रहेगा वैकुंठ में बैठ रहेंगे तो क्या मिलेगा आप ईश्वर कल्पना करो ईश्वर फल देने वाला ये भी कल्पना करो तो ईश्वर धर्मी हो गया धर्म जिसमें उसको कहेंगे धर्मी और धर्म क्या है फल हेतुत्व ईश्वर में कर्म फल हेतुत्व भी कल्पना करो दो कल्पना करना पड़ेगा धर्मी ईश्वर ईश्वर ने फल हेतुत्व धर्म ये दो कल्पना करना गौरवम आता गौरव है कर्म फल हेतु तो मानते हो आप मानते हो हम मानते हैं उसी कर्म में फल हेतु तो हो गया और इतने कल्पना करना गौरव है सिद्धांत पूर्व पीछे कहता है न नित्यस्य ईश्वरस्य नित्य सर्वज्ञ सकते फल हेतुत्वम चैति नित्य ईश्वर भी सिद्ध नहीं होगा नित्य से ईश्वर से सर्व नित्य सर्वज्ञ शक्ति नित्य सर्वज्ञ सकते नित्य से सर्वज्ञ से नित्याच असो सर्वज्ञ शक्ति नहीं नित्या सर्वज्ञ शक्ति यस्य सर्वज्ञ शक्ति सर्वज्ञ शक्ति नित्या सर्वज्ञ शक्ति यस्य ईश्वरस्य स नित्य सर्वज्ञ शक्ति तस्य ईश्वरस्य फल हेतु तंच सर्वज्ञ की शक्ति नित्य शक्ति नित्य ईश्वर उसे में फल हेतु तो नित्य ईश्वर मानना उसे फल हेतु तो मानना ये जरूरत नहीं गौरव है टीका में गौरव कहेंगे यदि लाघव कहें तो गौरव यदि कहीं कम रास्ता है घूम कर क्यों जाएंगे जहां और कम रास्ता है ही नहीं तो घूम कर जाना पड़ेगा जाना पड़ेगा कम रास्ता नहीं तो घूम कर जाना पड़ेगा यदि संक्षेप रास्ता जो है कम दूर है तो ये लाघवे से रास्ता में चलो क्यों घूमना यदि जा नहीं सकते रास्ता कम है कम है ही नहीं तो घूम कर जाना पड़ता है सत्य गौरव बंधु सनम से आते लाघव कहीं है तो गौरव दुश्मन होगा लाघव नहीं तो गौरव दूषण नहीं होगा गौरव भी मानना पड़ेगा निहत दस्ति सिद्धांत कहता ऐसा लाघव है ही नहीं इत अभिप्रेत सिद्धांत विवृणति सिद्धांत संग्रह वाक्य में सिद्धांत उसका विवरण करते न परतंत्र से निमित्त मात्रत्वात् ये सिद्धांत है सिद्धांति का सिद्धांत पक्ष संग्रह वाक्य में इसका विवरण व्याख्यान करते हैं भाष्य में न कर्मण एव उपभोग वैचित्र्यादि उपपद्यत कर्मण एव उपभोग आदि न उपपद्यत कर्म से उपभोग वैचित्र्य और उपभोग साधन वैचित्र उपभोग वैचित्र और साधन भी तो साधन वैचित्र देश काल निमित्त अनुरूप प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम ये सब कर्म से नहीं हो सकता है कर्मण केवल कर्म से नहीं हो सकता कर्म सहकारी कारण है जरूर निमित्त कारण है किंतु कर्म से ही सब हो जाएगा उपभोग वैचित्र्य साधन वैचित्र्य नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम ये सब नहीं हो सकता है पूर्व पीछे पूछता अकस्मात क्यों नहीं होगा कर्म तो हेतु मानते हो कर्तृतंत्रत्वात् कर्मण सिद्धांति कहता है कर्म तो कर्तृतंत्र कर्ता के अधीन है जड़ है स्वयं फल देने नहीं दे सकता है चित्तिमत प्रयत्न निवृत्तम ही कर्म तत् प्रयत्न प्रवाहमाद उपरतम तद देशांतरे कालांतरे वा नियत निमित्त विशेष अपेक्षम कर्तुम फलम जनयति इति न युक्तम अनपेक्ष आत्मन प्रयुक्ति विरामेह है चित्तिमत प्रयत्न निवृत्तम ही कर्म चित्तिमत चेतन वाला जीव चैतन्य वाला चित्तमत करता है कर्ता के प्रयत्न से संपन्न होता है कर्म चित्तमत है चेतना चेत चैतन्य चेतना वाला जीव उसके प्रयत्न मनुष्य प्रयत्न से निवृत्त संपन्न होता है कर्म और तत्प्रयत्न प्रमाद उपरतम प्रयत्न से संपन्न हुआ कर्म प्रयत्न समाप्त हो गया तो उपरत हो गया कर्म रह गया ऐसे कर्म रहा अभी आग कर दिया कर्म हो गया वो कर्म ऐसे रहा उपरतम सब देशांतरे कालांतरे वा नियत निमित्त विशेषापेक्षम कर्तु फलम इति नयुतम कर्म कर दिया याग आदि कर्म कर दिया कोई पाप कर्म कर दिया कर्म ऐसे रह गया तो प्रयत्न उपरम तो हो गया वो भी ऐसे रह गया और देशांतरे कालांतरे अभी यहाँ कर्म क्या स्वर्ग में फल देगा जहाँ कर्म उत्पन्न होगा वही स्वर्ग फल दे मिलता है कर्म यहाँ क्या फल देगा स्वर्ग में यहाँ पाप कर्म क्या नरक में फल प्राप्त करेगा देशांतरे और कालांतर जिस समय कर्म करता है उस समय स्वर्ग चल जाता है या पाप कर्म करने पर तुरंत नरक जाता है नहीं जाता है अन्य काल में देगा अन्य देश में अन्य काल में कर्म फल देगा कर्म यहाँ क्या अन्य देश में फल देगा और अन्य काल में फल देगा उसी काल में नहीं देशांतरे कालांतरे बा अच्छा फल देगा तो क्या ऐसे अपने जिस किस को जो भी फल दे देगा अपना कर्म का फल जो क्या कर्म नियत निमित्त विशेष विशेषापेक्षम नियत निमित्त विशेष की अपेक्षा करके जिसको कोई आपने कष्ट दिया वही आपको कष्ट दे कई जो जैसे पाप कर्म का उसके ऐसे फल मिलेगा जो जैसे कर्म करते ऐसे फल मिलता है तो नियत निमित्त से किसके द्वारा इसको मिलेगा कर्म फल तो भोग करेगा पाप कर्म फल भोग करेगा किंतु निमित्त नियत निमित्त विशेष की अपेक्षा करके अच्छा किसको कुछ हाथ पर टूटना है कर्म फल है तो निमित्त के ऐसा नहीं कि खाली से बैठा बैठा हाथ पर टूट गया निमित्त कुछ होगा कहीं रास्ता में जाएगा धक्का लगा गिर पड़ा चलते चलते गिर पड़ा तो नियत निमित्त विशेष की अपेक्षा करके फल देगा कर्म करता है पाप कर्म का तो पाप कर्म फल और पुण्य कर्म क्या सुख मिलेगा सुख मिला खाली बैठे बैठे सुख नहीं मिलता है उसका निमित्त भी प्राप्त होगा निमित्त प्राप्त होगा यदि पुण्य कर्म क्या पुण्य कर्म के अनुसार भोजन हो सम्मान हो पद हो धन संपत्ति हो कुछ निमित्त विशेष अपेक्षा करके फल देगा कर्म सुख हो तो दुख हो कर्म फल देगा किंतु कर्म रे से ऊपर तो हो गया जड़ बन गया अन्य देश में अन्य काल में निमित्त की अपेक्षा करके कर्ता को फल दे देगा कर्म कर्तु फलम जनयति जनयति का कर्ता कौन है कर्म कर्म फल जन उत्पन्न करेगा इति न युतम ये ठीक नहीं सिद्धांत कहता है कैसे न उत्तम अनपेक्ष अन्यद आत्मन प्रवृत्ति आत्मन अन्यद प्रवृत्ति अनपेक्ष आत्मन अन्यद आत्मन का टिप्पणी में दिया स्वस्य प्रवृत्ति अन्यद अनपेक्ष अथवा स्वस्माद अन्यद आत्मन प्रवृत्ति अपना प्रवृत्ता कर्म न कर्म का प्रयोगता प्रयोग करने वाले अन्य की अपेक्षा नहीं करके केवल कर्म फल नहीं देगा आत्मन प्रयतिका था स्वस्य प्रयोगता कर्म का प्रयोगता अथवा आत्मन अन्यत अपने से भिन्न प्रयोगता के बिना कर्म फल नहीं दे सकता है आत्मन का तो पंचमी हो सकता है षष्ठी भी हो सकती है पंचमी करे तो क्या करेंगे आत्मन अन्यत अपने से भिन्न प्रयुक्ता के बिना कर्म फल नहीं दे सकता है षष्ठीकरण तो क्या होगा अपना प्रयुक्ता अपना उत्तर कर्म के प्रयुक्ता अन्य की अपेक्षा नहीं करके फल नहीं दे सकता है कर्म तो आत्मन प्रयुक्ति कहेंगे तो अपना प्रयुक्ता कर्म का प्रयुक्ता अथवा अन्यत का विशेषण आत्मन अन्यत अपने से भिन्न कोई प्रयोगता के बिना केवल कर्म फल नहीं दे सकता है टीका में आत्मन अन्यत प्रवर्तक अनपेक्ष कर्म चेत न फलम जनयति तरे कर्ता जीव एव प्रयोजकस्तु आत्मन अन्यत प्रवर्तकम अन्यत प्रवर्तकम आत्मन अन्यत आत्मन प्रवर्तकम यहाँ भी पंचविंशति दोनों कर सकते हैं अपना प्रवर्तक अन्य कोई अथवा अपने से भिन्न कर्म से भिन्न कोई प्रवर्तक की अपेक्षा नहीं करके कर्म यदि न फलम जनयति फल नहीं दे सकता है ठीक है कोई प्रवर्तक मानेंगे करता ही जीव ही प्रवर्तक हो तरे कर्ता जीव एव अस्तु जो कर्म करने वाले कर्ता वही कर्ता जीव वही प्रेरक हो जाएगा कर्म का ईश्वर मानना क्या जरूरत है जीव ने कर्म किया था और कर्म तो रह गया अभी फल भोगने का समय आएगा जीव कहेगा कर्म को तुम तो अपना कर्म दे दो मैंने पुण्य पाप किया फल दे दो मैंने याग किया था अभी स्वर्ग हमको दे दो जीव प्रयोजक अस्तु <laughs> दुख सो रह जाएगा इति संकित परिहरति परिहार करते कर्तैव फल काले प्रयुक्ता इति कर्ता ही फल काले में प्रयोग करेगा कहेगा का फल दे दो कैसे कहेगा मया निर्वर्तितोसी त्वाम प्रयोचे फलाय यद आत्मा फलम इति मैंने तुमको संपादन किया था मैंने किया है तुमको कर्म किया था तुम को अभी मैं लगाता हूँ प्रेरणा करता हूँ फलाय फल के लिए यद आत्मानुरूपम परम इति अपने अनुसार फल दो जितने पुण्य पुण्य का फल दे दो पाप कर्म का फल कोई मांगेगा <laughs> नहीं मांगेगा तो कोई दुखी नहीं होंगे सिद्धांत कहता है ना टीका में अनिष्ट फल भोग सिद्ध अन्यथा अनुपपत्या कर्तु कर्म नियोक्तृत्व न संभवती पूर्व पीछे सिद्धांत कहता है यदि भाष्य में पहले यदि कर्ता देश विशेषाभिज्ञासन स्वातंत्र्यन कर्मनुज्ञात कर्ता देश विशेष को जान करके स्वर्ग में आ गया अभी कर्म को बोलेगा देखो मैं स्वर्ग में आ गया अभी हमारा फल दे दो ऐसा कहेगा स्वातंत्र कर्म ने जो करे ततो स्वर्ग फल तो ले लेगा अनिष्ट फलस्य प्रयुता स्यात् अनिष्ट फल अनिष्टम फलमस्य कस्य कौन सा कर्म ताप कर्म जितने पाप कर्म क्या उनका फल सोनिष्ट है उनको कहा तुम रुको इधर नहीं आओ <laughs> डांट देगा डर के भाग जाएंगे अनिष्ट फल से अप्रयोगता से आता उसको प्रयोग नहीं करेगा नहीं करेगा तो दुख नहीं मिलेगा तो कोई अनिष्ट कर्म को पाप कर्म कहेगा तुम हमारे तुम्हारा अनुरूप अभी हम नरक में का दुख दो कष्ट दो कोई कहेगा नहीं कहेगा नहीं कहेगा तो दुख नहीं मिलेगा दुख मिलता है किसको दुख जो मिलता है ये दुख मिलता है इससे सिद्ध होता है यदि अनिष्ट फल का प्रयोग नहीं करना चाहिए टीका में अनिष्ट फल भोग सिद्ध अन्यथा अनुपपत्या अनिष्ट फल भोग सिद्धि होती है नहीं होती अनिष्ट फल भोग दुख भोग होता है होती सिद्धि अन्यथा अनुपपत्या अर्थापति प्रमाण कोई प्रेरक अन्य नहीं होगा तो अनिष्ट फल भोग कोई नहीं करेगा अपने आप को अनुभव करना चाहिए कर्तु कर्म नियुक्तृत न संभवति कर्ता स्वयं जीव कर्म का नियुक्त प्रेरक नहीं होगा यदि प्रेरक होगा तो पुण्य कर्म को कहेगा तुम हमको फल दे दो पाप पुण्य को नहीं कहेगा पाप कर्म फल कोई नहीं भोगेगा किंतु अनिष्ट फल भोग सिद्धि होती है जितने समझदार हो दुख सुख को भोगना पड़ता है ऐसा कौन है बुद्धिमान जहाँ कर्म को पुण्य कर्म को छांट छाड़ कर लाएगा पाप कर्म को अलग रख देगा कभी दुख नहीं होगी सबको दुख भोगना पड़ता है कि कैसे कोई नहीं हुआ अब तक कि दुख जन्म लेने के बाद पाप कर्म फल नहीं होता दुख भोग करता है अन्यथा अनुपपति अन्यथा कर्म प्रेरक जीव से भिन्न के बिना दुख कर्म फल अनिष्ट कर्म फल भोग नहीं होना चाहिए भोग होता है तो मानना पड़ेगा कोई दूसरा प्रेरक है फल देने वाला स्वयं नहीं है पूर्व शिकता यदि कोई अन्य अथा अनुपत्या करता जीव कर्म का नियुक्ता नहीं होता है तरी निर्निमित्तमेव कर्म फलाकारण परिणमते ठीक है जीव प्रेरक नहीं होगा कोई बात नहीं तो भी ईश्वर सिद्ध नहीं होगा क्यों बिना कोई निमित्त कर्म फल कारण फल दे देगा जब समय आएगा कर्म फल देगा तो प्रेरक क्या जरूरत है बीज पड़ा है समय आने अंकुर हो गया कोई जाकर कहता है बीजे को तुम्हारा समय आ गया तुम अंकुर हो जाओ कहता है अपने आप हो गया इसी प्रकार निमित्तम बिना निमित्त कर्म स्वयं फलाकार न परिणमते बीज जिस अंकुराकार से परिणत हो जाता है कर्म भी फलाकार हो जाएगा बिना निमित्त इति ये कौन कहते हैं जरत कर्म मीमांसा का नाम प्राचीन कर्म मीमांसा को पूर्व मीमांसा का नाम मतम आशंका हो कहते कोई ईश्वर की आवश्यकता नहीं अपने आप ही फल होगा कर्म ही स्वतंत्र फल देने वाला समय आने पर स्वयं फल रूप से परिणत हो जाएगा सिद्धांति कहता है न च निर्निमितम तद अनिच्छय आत्म संयमितम तत्चर्मवत विकृति कर्म निर्निमितम तद कर्म निमित्त के बिना अनिच्छया किसी की इच्छा के बिना आत्मा अपने समवेत संबद्ध कर्म तत्चर्मवत विकृति कर्म जैसे चमड़ा विकार को प्राप्त करता है समय आने पर पानी पानी में गिरने पर इसी प्रकार विकार को प्राप्त करे कर्म विकृत हो जाएगा कर्ता की इच्छा के बिना ये नहीं हो सकता है टीका में कर्तृ अनिच्छा कर्म विकृत इत्यत्र दृष्टांत अभावत कर्ता के इच्छा के बिना कर्म विकार को विपरिणाम हो जाएगा होकर फल सुख दुख हो जाएगा इसमें दृष्टांत नहीं है दृष्टांत जैसे चर्मवत कहा चर्मणोपि विकार से सन्निमित्तत्वात् चर्म का विकार कर्म से होगा बिना निमित्त नहीं होगा निमित्तकत्व नहीं है इसलिए कर्म विकार निमित्त नहीं हो सकता है कोई निमित्त चाहिए यच्च सौगतेन उच्यते बौद्ध लोग आए कहते ये अभिस फल काल पर्यंतम कर्तृ अवस्थान भावात जो स्वर्ग के लिए याग करता है फल काल स्वर्ग भोगने तक करता रहेगा और नहीं रहेगा किनके मत में नहीं रहेगा बौद्ध के मत में वेदांति मत करता रहेगा जीव नहीं रहेगा जीव रहेगा ये आप आप जो आस्ती कहे कहेंगे जीव रहेगा मरने के बाद तो कर्म फल भोग करेगा ये तो आप मानोगे बौद्ध के मत के अनुसार मरने के बाद कि अभी भी एक क्षण में नहीं रहता है सर्वम क्षणिकम यह सतत क्षणिकम यथा दीप शिखा दीप शिखा देखो लगता है दीप जलता है लगातार शिखा शिखा लगातार एक ही शिखा है नीचे से ऊपर जाता है प्रति क्षण बदलता रहता है गंगा जी में प्रवाह पास में बैठो पानी चलता रहता है अतः जितने सोल देखा है पानी इतने वही पानी अभी है गंगा जी में पानी कितने बस बराबर वही है इतने ही वही है वही पानी सामने है ये क्षण पानी एक घंटा में परिवर्तन होता है या कितने परिवर्तन होता है प्रतिक्षण परिवर्तन पानी आता जाता रहता है लगता है उतने पानी भरा वही पानी है वही पानी नहीं प्रतिक्षण परिवर्तन होता है क्षणिक है दीप शिखा भी क्षणिक है जो सत है वो क्षणिक जैसे तार्किक लोग कहते यत्र धूमस तत्र तत्र बने बौद्ध लोग को सिखाते यत सत तत् क्षणिकम जो सत है विद्यमान है वो सब क्षणिक है फिर क्या होगा संतस्य में भावा ये सारे पदार्थ रूप है इतने कहेंगे दो वाक्य न्यायिक लोग अनुमान प्रयोग करने के लिए कितने वाक्य कहते हैं पांच अवयव प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगम पांच वाक्य पहले पर्वत वन्यमान फिर कहेंगे धूमवत्वात् हेतु हो गया फिर उदाहरण धूम से बनी क्यों जहाँ जहाँ धूम वहाँ मावनी यथा महानसम उदाहरण हो गया उसके बाद फिर क्या हुआ तथा चयम ये पर्वत ऐसा है पर्वत में वन्य व्याप्य धूम है फिर क्या सिद्ध हुआ तस्मात पर्वत वन्यमान इसलिए पर्वत वन्यमान पांच वाक्य कहेंगे वेदांति पूर्वमीमांसा कहते तीन अवयव से हो जाएगा प्रतिज्ञा है तो उदाहरण तीनों कहो अथवा उदाह उदाहरण उपन निगम तीन कहो पर्वत वन्यमान वत्वात यत्र धूम तत्र वन्य यथा महानसम इतने से हो जाएगा अथवा पहले कहो यहां जहाँ धूम है वहाँ वन्य है यथा महानस ये पर्वते वन्य पे धूम है तस्मात् पर्वत वन्यमान पांच अवयव नहीं तत्र पंचतयम केचित केचि द्वयम वयम त्रयम उदाहरण पर्यंत यद अधिकम तत्र पंचतम केचित कोई कहते पांच अवयव न्यायिक वैशेषिक लोग कहेंगे अनुमान कितने पंचतयम पांच अवयव केचित द्वयम बौद्ध लोग कहे दो व्याप्ति और उपनय यस सत क्षणिकम संतश्चय में भावा बस बाकी समझ लो कोई पूछता है सारे पदार्थ क्षणिक कैसे निश्चय होगा न्याय के सर्वम क्षणिकम वो तो पूछ रहा है सर्वम क्षणिक से प्रमाण बताओ प्रमाण बताना चाहिए वो कहते सर्वम क्षणिकम पहले कहेंगे वो पूछता है सर्वम क्षणिकम इतर किम प्रमाणम बौद्ध लोग कहे यह सत क्षणिकम से में भावा हो गया इतने से प्रमाण हो गया क्षणिक सिद्ध हो जाएगा अब पूछता है पर्वत बनने इसमें क्या प्रमाण है कहता पर्वत बनने मान नायक लोग क्या कहेंगे कि पूछता पर्वत में बनी है इसमें क्या प्रमाण कहे पर्वतो वन्यमान ये व्यर्थ नहीं हुआ धूमवत्वाद अरे धूम तो हम देख रहे पर्वत वन्यमान इतर के प्रमाण कहना चाहिए बौद्ध लोग क्या सिखाएंगे यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वन्य यथा मानसम तथा चयम इतने बोल देने से हो जाएगा पर्वत में धूम दिखता है वन्य में क्या प्रमाण कहीं देखो जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वन्य ऐसे में भगवान व्याप धूम है इसलिए ये दो वाक्य मीमांस कहते ना इतने कंजूस नहीं उदाहरण पर्यंतम यद उदाहरणादिकम पर्वत वन्यमान धूम अपत्वात् यत्र तद्धूम तत्र वन्नी यथा इतने कहो स्पष्ट होगा नहीं तो यत्र तद्धूम तत्र वन्नी यथा मानसम ये पर तथा चयम तस्मात् पर्वत वन्यमान के लोग उत्तर पूर्व मीमांसा मीमांसा में वेदांत में उत्तर मीमांसा में तीन अवयव प्रयोग करते हैं के लोग पांच अवयव बौद्ध लोग कहते दो क्या कहेंगे यत सत क्षणिकम संतस्य में भावा जो सत है क्षणिक है ये सारे पदार्थ सद्रूप है इसलिए क्षणिक है सब क्षणिक है सब क्षणिक मतलब क्या है एक क्षण देख तो दूसरे क्षण में नहीं रहा पदार्थ पर्वत देखो मकान देखो आपके शरीर को देखो एक क्षण में है दूसरे क्षण में नहीं रहा कहां गया उसी समय नष्ट हो गया और जो दूसरे क्षण दिखता है ये नया बन गया जो प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश उसी समय उत्पत्ति उस समय नाश द्वितीय क्षण और एक उत्पन्न होगा तृतीय क्षण और एक उत्पन्न होगा किंतु हम कहते सोयम घट सेयम लेखनी ये लेखनी काल भी थी अभी वे पहले में इसको उठाया अभी वही मेरे हाथ पर है अब उत्पत्ति नाश प्रतिक्षण का है और सिखाते कहते नहीं ऐसे प्रतिविज्ञा तो होती है किंतु भ्रांति है क्योंकि दीप सिखा देखो कोई पूछेगा देखो दीप कैसे जलता है नहीं बच्चा कहता हां हाँ, ऐसे जो था वही है जो दीप सिखा थी अभी वही है सेयम दीपकलिका दीपकलिका दीप सिखा सायम दीपकलिका जो दीप सिखा एक घंटा पहले आपने लगाते समय थी वही दीप सिखा बराबर अभी वही सही वही है वही है क्या भिन्न होने पर भी उसके सादृश होने के कारण सोयम कहते तो वही वही है वही औषध तो पहले काल पिछले साल खाया पिया था अभी कोई औषध लेके दिया पिया कहा तदेव औषधम इदम यही औषध में पीछे साल दिया था अभी जो पिया यही इसको पिछले साल पिया था कहता तदेव इदम वही औषध है वही औषध मतलब उसी के सजातीय नहीं तो कोई फल खाया हाँ यही फल में खाया था पिछले साल वो फल अभी खा रहे हो ये फल पिछले साल खाया था काल खाया था ये फल हाँ मैं तो ये काल खाया था काल इसको कहाँ खाया था वो दूसरे खाया था ये तो दूसरा है सजाती होने पर तदेव इदम ऐसे प्रतिविज्ञा हो जाती है इसे जो पर्वत आपको दिखता है वही पर्वत वही देह वही लेखनी ये सजाती होने के कारण आपको भ्रम हो जाता है प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश बौद्ध लोग मानते हैं अर्थात प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश अभी कर्म करेगा द्वितीय क्षण नष्ट हो गया पुण्य कर्म करेगा द्वितीय क्षण नष्ट हो गया द्वितीय क्षण जो व्यक्ति अलग अलग हो गया ये कहते सवगत क्या कहते फल काल पर्यंतम कर्तुर अवस्थान अभावात स्वर्ग पर्यंत करता रहता ही नहीं एक क्षण के बाद नहीं रहता है न कर्तृ समवेतम कर्म कर्म कर्ता में रहेगा नहीं कर्ता तो समाप्त हो जाता है कर्म उसमें नहीं रहेगा तो फिर कर्म कहाँ रहेगा फल देगा किंतु क्षणिक विज्ञानेन आत्मना कृतम कदाचित फल से आकृष्टि भवति ये कहते आत्मा नाम को कोई पदार्थ नहीं है प्रतिक्षण ज्ञान उत्पत्ति नाश वाला वो विज्ञान को मानते क्षणिक वेदांत के ज्ञान मानते नित्य ज्ञान मानते सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ये वेदांत प्रमाण को अनादर करके कहते प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है कि विज्ञान विज्ञान का की धारा चलती है उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश ही चलता रहता है ऐसे गंगा का प्रवाह गंगा की धारा इसी प्रकार प्रतिक्षण ये प, ये दिख, दिखता है ये कलम दिखती है एक ये विज्ञान है ज्ञान से भिन्न कोई कलम है ही नहीं जैसे स्वप्न में आपको ज्ञान होता है हस्ती दर्शन हुआ हस्ती दर्शन हुआ तो ज्ञान दर्शन से भिन्न हाथी बड़ा है या छोटा है बोलो बोलो जितने बड़ा देखा इतने है या छोटा है बड़ा है हैं सपने में जो हाथी देखा जितने बड़ा देखा था वास्तव हाथी इतने बड़ा है या छोटा है उठने के बाद मिलेगा हाथी है क्या है ही नहीं विषय है ही नहीं बड़ा छोटा कुछ नहीं ज्ञान हुआ ज्ञान से बिना हाथी है ही नहीं तो हाथी बाहर दिखता है आपके ज्ञान से भिन्न हाथी नहीं है स्वप्न में जिस प्रकार स्वप्न में बाहर विषय नहीं केवल ज्ञान होता है लगता है बाहर है इसी प्रकार कहते जागृत में भी ये विषय कुछ बाहर है ही नहीं आपका ज्ञान अंदर है और भ्रांति से आपको लगता है सो बाहर बाहर दिखता है ये कहते हुए विज्ञानवादी तो आत्मा क्या है प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश पाने वाले जीव विज्ञान उसको भी आत्मा आप लोग कहते हो आत्मा नाम कोई वस्तु नहीं वो भी उत्पत्ति नाश वाला सब क्षणिक है स्थाई कोई है ही नहीं स्थिर मानेंगे तो जो असत्य है तुच्छ है वो स्थिर नित्य है नित्य कौन है जो असत्य है वो नित्य है वो सत नहीं ना जो सत्य वो क्षणिक और नित्य कौन होगा असत असत को क्षणिक कहेंगे जो सत्य वो क्षणिक और जो सत नहीं वो नित्य है जो क्षणिक नहीं वो असत है जो नित्य है वो असत है और जो सत है यत सत तत् क्षणिकम यत क्षणिकम न तत् सत सत न असत है असत नित्य है और सत क्षणिक है ये कहते कर्म अभी क्या कर्ता जीव फल काल में कर्ता नहीं रहता है ऐसे कर्ता में कर्म नहीं रहेगा किंतु क्षणिक विज्ञान है ना आत्मना क्षणिक विज्ञान है आत्मा वो आप लोग आत्मा कहते बौद्ध लोग नहीं कहते क्षणिक विज्ञान को जो आत्मा कहते कृतम उसने किया था कर्म कदाचित फल से आकृष्टि हो कभी विज्ञान फल को आकर्षण कर लिया कि चलेगा अभी कर्म क्या था मर गया मर गया स्वर्ग में गया स्वर्ग में गया स्वर्ग में जो विज्ञान ज्ञान उत्पन्न उसी समय क्या करेगा कर्म को खींच लेता है वो कर्म फल देता है ये ना ईश्वर मानना स्थाई जीव आत्मा मानना कोई चेतन दूसरे की आवश्यकता नहीं प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाले विज्ञान धारा चल रही है ऐसे विज्ञान इस समय कर्म व पाप पुण्य कर्म ऐसे विज्ञान धारा चलती है इस समय क्या करेगा वो कर्म को खींच लेगा ये कर्म में शक्ति है जैसे चुंबक चेतन या जड़ है जड़ लोहा को खींच सकता है ना नहीं चुंबक नहीं खींचते लोहा को जड़ खींच लेते ना इसी प्रकार ये विज्ञान प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला कभी फलों को खींच लेकर के भोग कर लेता है सुख दुख हो जाता है कदाचित फल से आकृष्टि भवति यथा अयस्कांत मणि चुंबक कदाति कदाचि चेतन न प्रयुक्त चेतन कभी लोहा मणि चुंबक मणि को यहाँ रख दिया जब रख दिया उसके बाद कभी लोहा पास में आने पर उसको आकर्षण करेगी चुंबक मणि हैं या रखते समय अन्य समय लोहा आने पर इसी प्रकार जीव कभी कर्म कर लिया कर्म हो गया और कभी वो कर्म विज्ञान उसी कर्म को खींच लेगा दूसरा विज्ञान वो विज्ञान नहीं दूसरा विज्ञान हाँ विज्ञान प्रतिशन प्रतिशन दूसरे विज्ञान थे तो दूसरे क्या कितने उसके पहले कितने हजार विज्ञान उत्पत्ति नाश हो करेगी कोई एक विज्ञान है वो खींच लेगा कदाचित चेतनन प्रयुक्त तो अन्यदापि लोह से प्रेरक चुंबक से अन्य लोह का प्रेरक है इसी प्रकार हो जाए तद्वत इति तत्रह सिद्धांतिकता न च आत्मकृतम अकर्तृ संवेतम अयस्कांत मणिवत आकृष्टि भवति प्रधान कर्तृ तत् कर्मण सिद्धांतिकता आत्मकृतम आत्मना कृतम कर्म आपने कर्म किया कर्म जो करेगा इतर उसमें कर्म नहीं रहेगा दूसरे में कर्म रहेगा अकर्तृ समवेतम चैत्र कर्म करेगा पुण्य कर्म और कर्म कहाँ रहेगा चैत्र में नहीं रहेगा अकर्ता में जो कर्म करता है विज्ञान उसी में कर्म नहीं रहेगा वो फल नहीं भोग करेगा अन्य में कर्म रहेगा अकर्तृ समवेतम कर्ता में नहीं रह करके कर्ता भिन्न में संबद्ध हो करके चुंबक के जैसे कर्म उसको आ जाए पे खींचेगा अकृत समितम अयस्कांत मणिवद अयस्कांत मणि के समान आकृष्ट होती आकृष्ट आकर्षण करेगा कौन कर्म आत्मकृतम जो कर्म है अकर्त संवेतम कर्ता में नहीं है और कहाँ कर्म रह करके चुंबक के समान खींच लेगा किसको फल को प्रधान कर्तृ संवेत तत् कर्म न कर्म होता प्रधान कर्तृ संवेत जो कर्ता है कर्म करण संप्रदान अप्रदान सब को प्रेरणा करके कर्म करता है वही उसमें ही कर्म रहेगा जो कर्म करता है वही कर्म उसमें रहेगा पुण्य कर्म चैत्र करेगा पुण्य कर्म चैत्र में नहीं रहेगा कहीं दूसरे में पत्थर में कहीं विज्ञान दूसरे ज्ञान जड़ में रहेगा ऐसा होगा चैत्र कर्म करेगा कर्म रहेगा अन्यत्र अन्यत्र कर्म रहेगा फल दूसरे को मिलेगा जब फल काल में विज्ञान हो वो विज्ञान कर्म काल में नहीं था कर्म काल में जो विज्ञान है वो कितने क्षण रहेगा उसे नष्ट हो गया तो फल काल में सुख दुख भोगने वाले विज्ञान अलग है और कर्म करने वाले विज्ञान अलग है एक कर्म करेगा दूसरे कर्म पर भोग करेगा ये नियम कैसे होगा ये संभव नहीं न च आत्मकृतम अकर्तृतावेत कर्म अयस्कांत मणि के समान आकर्ष्ट हो जाएगा फल कैसा नहीं टीका में कर्ण आदि ने कारकाणी यह प्रेरयन करोति स प्रधान करता प्रधान करता कौन स्वतंत्र करता व्याकरण सूत्र है प्रधान करता कौन है जो कर्णादिनी कारकानि प्रेयर प्रेरण करोति जैसे वासुला है बड़ी कर्म करता करता वो क्या करेगा वासुला को लेगा आदि से काष्ट को लेगा दोनों में प्रेरणा करके कुछ कर्म करता है कर्णादिनी कारकानि प्रेरण कुलाल घट बनाएगा कुलाल बैठा मिट्टी लाया दंड लाया चक्र लाया उसको घुमाया रख करके घट बनाता है करणादि अन्य कारक को प्रेरणा करता हुआ जो कार्य करता है वो प्रधान करता है कुलाला के हमरा सब कार्य में प्रधान प्रधान से सब करता से सब कार्य में प्रधान और सबका प्रेरक होने के ना पद प्रधान दंड के बिना घट नहीं बने कुठार के बिना चेतन नहीं होगा कुठार चाहिए काष्ठ भी चाहिए सब तो चाहिए किंतु उसमें प्रधान हो गया करता करता ही स्वयं कुठार गुठा करे पिटाई करेगा और करता नहीं खाली कुठार काष्ठ सब रख दिया छेदन कितने देर होगा हैं छेदन नहीं होगा करता ले करके छेदन करेगा इसलिए प्रधान करता हो गया प्रधान प्र, सब प्रधान करता तत्समवेतम कर्म प्रसिद्धम ये प्रसिद्ध जो पुण्य कर्म करता है पुण्य कर्म उसमें रहेगा पाप कर्म करे उसमें रहेगा इसलिए उसको पुण्यवान पापी ऐसे कहते हैं ये तो सर्व प्रसिद्ध है कर्म जो करता है उसमें कर्म रहेगा तस्य फल काल पर्यंतम स्थायित्वम कर्म जो करेगा उस कर्म का फल वही भोग करेगा दूसरे भोग करेगा तो कौन पुण्य कर्म क्यों करेगा कर्म पुण्य कर्म फल भोगेगा भोगेगा दूसरा सब पाप ही करेंगे हम पाप करें फल कोई दूसरा भोग कर हमारा क्या गया पाप करने से तो कोई भय नहीं रहेगा यदि स्वयं पाप कर्म का फल मिलेगा भय करेगा तो पाप कर्म से कोई निवृत्त होगा यदि हम तो नहीं रहेंगे पाप कर्म करके दूसरा भोग रहा तो क्या हो गया पुण्य कर्म क्यों इतने परिश्रम कर हम तो भोग नहीं है इसलिए जो कर्म करता है कर्म उसमें रहेगा फल उसको भोग करता है फल काल पर्यंत अवश्य स्थायी मानना पड़ेगा तो दिया है फल काल पर्यंतम स्थायित्वम इष्टव्य मानना पड़ेगा जो करता है वो फल काल पर्यंत रहेगा तभी फल भोग करेगा नहीं तो क्या होगा जो कर्म फल भोग करेगा वो कर्म नहीं किया था उसने नहीं किया हुआ कर्म फल भोग करे तो क्या होगा अकृत अभ्यागम नहीं किया हुआ कर्म फल भोगना और कर्म कोई करेगा उसके बाद मर गया नष्ट हो गया आगे का आएगा नहीं विज्ञान कर्म किया समाप्त हो गया तो कर्म जो क्या वो फल भोग करेगा नहीं करेगा कृत विप्रनाश स्वयं कर्म क्या वो फल भोग नहीं भोग गया नहीं कर्म नष्ट हो गया कर्म करने वाले फल भोग नहीं करके कर्म नष्ट हो गया तो क्या हुआ कृतस्य कर्मण विप्रनाश फल मदत्वा कर्म क्या फल नहीं देकर नष्ट हो गया कृत विप्रनाश और अपने कर्म नहीं किया था वो कर्म पर भोग करता है अकृत अभ्यागम ऐसा होगा तो फिर शास्त्र का कुछ प्रयोजन ही नहीं रहा पुण्य पाप का कोई प्रयोजन नहीं रहा कोई कुछ करे कर्म कोई करेगा फल कोई भोग करेगा ऐसा आपत्ति अन्यथा अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश विप्रकाश नहीं विप्रनाश प्रसंगात अस्थायित्व नहीं प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला आप कहते हो ये बिल्कुल विरुद्ध है प्रत्यभिज्ञा प्रामाण्याच प्रत्यभिज्ञा प्रमाण है स्वयं घट कहीं दीप शिखा प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला प्रत्यक्ष दिखने से वहां क्षणिक ठीक है और उसको दृष्टांत बना करके सर्वत्र क्षणिक सिद्ध कर देना एक घट तोड़ दिया नष्ट हो गया घट किस में नष्ट हो गया सर्वे घटा विनष्टा घटत्वा एतद् घटवत अनुमान करो जितने सारे घट है प्रथम में सब नष्ट हो गए क्योंकि घट है क्योंकि ये घट नष्ट हो गया ये अनुमान होता है एक दीप शिक्षा क्षणिक देखा उसको देखकर जितने पदार्थ तो सब क्षणिक है बस बड़े अनुमान एक देखा दीप शिक्षा प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाली ऐसे जितने पदार्थ सब क्षणिक है ये अनुमान करते हैं ये स्थाई स्वयं घट प्रतिभा होती और जो मैं था वही मैं हूँ काल में था चोरी करके गया कारागार में क्या सोता है मैंने चोरी किया और उसका कर्म फल भोग रहा हूँ ऐसे में उसको मालूम होता है या नहीं होता है देखो इसमें दिया है 18 टिप्पणी यो हम अचुचुरम सोहमिदानी कारागारम प्रवेशित इत्यादि प्रतिभिज्ञा वाला च कर्तु तो स्थायित्व मानना पड़ेगा जो मैंने चोरी किया था अभी उसके कारागार में प्रविष्ट हुआ ये प्रतिभा प्रमाण है स्वयं घटक यही घट है दूसरा घट है कहीं यही घट काल देखा था कह के नहीं ये नहीं दूसरा है कभी प्रतिभा भ्रम भी हो भ्रम भ्रमात्मक है कभी प्रमाणात्मक स्वयं देवता तो ये ठीक है कभी-कभी भ्रांति हो जाती है दूसरे को देखा ये देवता तो बाद में देखा नहीं ये नहीं दूसरा है ऐसा होता ना नहीं कभी-कभी देखा किसी व्यक्ति को समझ लिया ये देवदत्त तो है फिर उसके पास जाके बात कर देखा ये तो नहीं देवता नहीं दूसरा है तो भ्रांति कभी होती कभी प्रमा किंतु हमेशा भ्रांति ही प्रतिविज्ञा खाली सादृश्य को लेकर प्रतिविज्ञा ऐसा अर्थ नहीं है हां स्वयं तदेव इदम औषधम तदेव इदम फलम वहां सादृश्य को लेकर के तजातीय में तत्स्वरूप गौण प्रयोग है बोलने वाले जानता है कहता है वही फल में खाया काल खाया था आज जो फल खा रहा है इसी फल को मैं काल खाया था ये कहता है इतने उसको मालूम नहीं काल जो फल खाया था अलग है ये फल अलग और सजातीय में तद ऐसे प्रयोग हो गया गौण प्रयोग जो कहता है ये फलों को मैं कने खाया था अर्थात इसी फल के सजातीय फल में क्या खाया था उसके सजातीय फल है सजातीय में तदेविदम ऐसे प्रयोग हो जाता है उसके सजातीय सजातीय से वही कह देता है किंतु उसको मालूम है काल जो खाया था फल अलग ये फल अलग यानी कि इसी फल को मैं काल खाया था इतने के मालूम नहीं है तो सजातीय में तदविदम कहीं कहीं प्रयोग हो जाता है इसको कहते गौण प्रयोग और कहीं कहीं भ्रांति भी हो जाती है सर्वत्र प्रतिभिज्ञा भ्रांति नहीं स्वयं वही पर्वत वही स्वयं घट जो मैंने बाल्यावस्था में था वह अभी वृद्धावस्था में मैं ही हूँ जब मैं काले था जब मैं हूँ को उठने के बाद संशय करता है काल में ही था या दूसरा कोई था जगने के बाद क्या कहता है काल में था काल देखा पानी सुबह उठकर पा, कोई पानी पीते रखा था पानी कहाँ देखा तुरंत अपने पास जो वस्तु था ये मेरे मेरी अपना इसलिए प्रतिभिज्ञा प्रमाण होने के कारण स्थाई मानना पड़ेगा क्षणिक मत ठीक नहीं ये हो गया बौद्ध मत चला गया आगे मत अभिप्राय उद्भावित दूसरे के वर्ते बास प्रत्यक्ष जो दिखता है प्रमाण है और अनुमान बौद्ध लोग तो अनुमान को मानते हैं ये चार वाक्य मत अनुमान भी कोई प्रमाण नहीं प्रत्यक्ष ही प्रमाण है तो क्या है बस शरीर रहता है भी नष्ट हो गया तो क्या तो फिर आत्मा नाम कोई पदार्थ है ही नहीं ना पुण्य पाप कुछ है दिखाए है किसने पुण्य पाप स्वर्ग किसने देखा है कुछ नहीं जो दिखता है मानो तो भूत आश्रय वो कहेंगे तो कर्म कहाँ रहता है कहाँ रहा भाष्य में रहा हाँ ये भूत आश्रय आश्रमिति चेन साधनता तो क्या कहेंगे चार भाग लोग क्या कहेंगे भूत केवल है भूत कितने मालूम है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश तो कि दिखता नहीं आकाश क्या है कुछ नहीं तो आकाश आकाश आपको तो आकाश कहाँ है पृथ्वी जल तेज वायु वायु नहीं दिखता है किंतु स्पर्श से मालूम होता है पृथ्वी जल तेज चार भूत है और चेतना चेतन कुछ है ही नहीं तो जड़ चेतन में भेद क्या है भेद क्या है जैसे पत्र पुष्प फल आदि सड़ा करके मध्य बनाते हैं फल में पत्र में इसे मदिरा शक्ति नहीं मिला करके कुछ करते उसमें मदिरा शक्ति आ गई इसी प्रकार के भू पृथ्वी जल तेज वायु का मिश्रण से एक शरीर बन गया इसमें के चेतना शक्ति आ गई कोई अलग आत्मा थोड़ी है हां चेतना शक्ति ऐसे ही भूत में आ गई जैसे मध्य मदिरा शक्ति आती ऐसे शक्ति आ गई चेतना क्या है कुछ चेतना ही नहीं तभी तो सो जाने पर कुछ पता नहीं चलता है <laughs> ऐसे अपने आप आ गई चेतना तो ये कहते हैं तो इसमें कर्म रह जाएगा भूताश्रम इति चेन साधन भूताश्रम भूत भूतम आश्रयस्य कर्मण कर्म भूत में आश्रित हो जाएगा फल दे देगा ये तो नहीं मानते आगे कर फल देने वाला यदि फल देना आप कहोगे तो भूत में रहेगा कर्म कभी फल दे देगा जैसे मिट्टी लाया जो मिट्टी में जो है पदार्थ वही रहेगा मिट्टी लाए मिट्टी में कुछ पदार्थ है मिट्टी रह गया कभी मिट्टी से घड़ा बना तो घड़ा में भी पदार्थ रह जाएगा कहीं मिट्टी बटर लाते हैं चावल से भात पकाते हैं उसमें कंकर मिला हुआ भात खाते समय कंकर मिलेगा रहता है उसमें रह गया इसी प्रकार वो रहेगा भूत में कभी वो कर्म फल दे देगा भूतासेम इति चेत सिद्धांत कहता है ये भूत साधन है कर्तृ क्रिया या साधन भूतानि भूतानि क्रिया काले अनुभूत व्यापाराणि समाप्त च हलादिवत कर्ता परित्यक्तानि न फलम कालांतरे कर्तुम उत्सहन्ते ये कहते भूत में रहेगा अपने आप फल दे देगा जड़ जड़ है भूत पृथ्वी जड़ तेज वायु उसमें चेतन कौन है हैं सुन तो क्या पूछा पृथ्वी तेज वायु कौन है चेतन कौन है पूछता हूं आपको तो जड़ चेतन कौन है हैं कोई नहीं थे बोलो चेतन कोई नहीं बोलो चेतन कौन है उसका तो नहीं जड़ चेतन पृथ्वी जल तेज वायु इसमें चेतन कितने है कोई नहीं जड़ है ये जड़ कभी फल दे देगा कर्म उसमें रहेगा ऐसा नहीं हो सकता है साधन है साधन होने से जड़ में कर्म रहेगा और कर्म अपने आप फल दे देगा ये नहीं हो सकता है ये चारवा का मत है उसका स्पष्टीकरण आगे है पूर्व पक्ष कहता है भूत में कर्म रह जाएगा तो सिद्धांत कहता नहीं ये साधन है भूत तो भोग करने के लिए जीव भोग करेगा भोग करने के लिए साधन होता है शरीर इंद्रिय विषय तो उपभोग साधन किंतु जितने सब पदार्थ है सब भौतिक है पृथ्वी जल तेज वायु आदि भूत की उत्पत्ति हुई त्रिगुणात्मक है उसका कार्य परिणाम होकर के देह भी बना इंद्रिय भी विषय भी देह भी भूत भौतिक है इंद्रिय भी भौतिक है विषय भी भौतिक है ये भूत का कार्य ये सब साधन होते हैं चेतन भोग करेगा भोक्ता का साधन भूत साधन में आश्रित होकर के अपने आप फल दे देगा ऐसा हो नहीं सकता है इसके स्पष्टीकरण है ओम आप्यायन